हजार लोग जावे है भलाई जावे है और सर्वरीता पाल माते अबे मुनि गेंडा लेन मिले है भलाई मिले अबे मुनि कहे मारे गेंडवरी नंगे राखे हम घरे जाए रोटी जिमे आऊं भलाई जिमे आवे अबे मुनि घरे जावे है रोटी परिशे और पद्म आगी दे है अबे मुनु रोटी जिमन अबे है लारे अर्जुन जी गेंडे रे बोण बावे है गेंडो हेठो पड़ते थाली में मणी उछले बाहर पड़े है और अबे मुनि आप रा शस्त्र ले धनुष कबाण और सीधो ही आवे है तो अबे मुनि ने कई विद्या याद थी कि एक दिन रो समाजो राजा अर्जुन ने रोणी पूछी हो भला पूछे है क्या ते रण भारत रे में जाओ हो थानो कितरी विद्या याद है कितरा थे पडोड़ा हो की की थानो गुण याद है तो वो मना थे कई समझाओ भला कहे तो एक समय की बात है जो रोणी तो आप रे पेट आशा थी अबे मुनि रे राजा अर्जुन बात करे है कहना રોણીનો રોણી હોંકારા દે હે અબે મોની પેટ રે મેનો બેઠો બેઠો ને જો બુદ્ધિયારી વાત હતી જો કોઈ અક્ષર હતા જો કોઈ અમારો શૂરવીરોનો કામ હતો જો કોઈ જાપ હતા અગ્નિ જાપ હતો યા પવન જાપ હતો યા કોઈ આસમાનને તોડ દે તો રાજા અર્જુન એડો એક વિચાર હતો ओ वे हैं बात बताई कहना रोनी ना और अबे मोनी वे उधर रहे मैंने बैठे बैठे हैं हुनी ओ हणोड़ी बात यदि जुलमियो और कहीं थोड़ो मोटो वो हमने मंडियो माँ ना पूछियो मान कई मना उपदेश धारण कर और मारे ऊपर हाथ धर मारे पिताजी जो को बात करी थी तना जुदे हूँ जो मारे मन में मैंने वो बात दर्शी थी हमें गुरी मैंने हाजन ली तो गुरु धारण किए मैंने हाजन वह को नहीं आप मारे माथे हाथ धरो तो हूँ ऐसा साधन करो रोनी पाठ घाट करे जो हिसाब रे मैं हूँ और अभी मुझे माथे हाथ धरिया है के बेटा जा थारो भगवान बेड़ो पार कर है असली बात तो को मनो तो मैंने बताई ओ हूँ बताऊँ हाँ। थारे મને जी जरूर પતાજી बात की थी पर थारे પણ जी मैंने बात की थी मैंने મને तक याद है लंबी याद को नहीं અબે मुनि बात करें हनाई के पूरी री पूरी रोनी ना नींद आएगी और पूरी री पूरी नौ बजारी बात अर्जुन जी बताई और अबे मुनि जो उधर है मैंने याद की उतरी नौ बुद्या वो अबे मुनि ने याद आती और उन टाइम रे मैंने वहां लड़ाई हुई थी कभी बोल ते मारो गेंडो मारियो तो भाई गेंडो तो मारियो तो અમે तू जो सूरवीर હોય મારે जिद कर પછી भले गंडो ले बुझा और જે सूरवीर नहीं है जिद नहीं करी तो એ गंडो હું तू लाण કોણ લ્યો तो ये कह रे भाई थारे यहाँ गंडा मुखी लेन देन नहीं कोई बात नहीं कोई विचार नहीं और तू थारे माट के रस्ते पड़े नहीं ये कही हूँ कहीं को समझा नहीं या तो युद्ध कर और नहीं तो रस्तो पकड़ ये कहीं युद्ध करी छोकरा तू वो ननियो थको तो छोकरो अमर लोग रे बातों करे एड़ो तू बड़ो भारी ए की है थारे गोदी अरे हूँ थारे हम लड़ते ही मने शर्म आवे तो लड़न ने बात छोड़ तू सूरी वीर वे अन जी गेंडा लेने जायो अन थने गेंडे ने गा गाते हुए मारे ना तो बोल मारे युद्ध कर और नहीं तो सीधो रस्तो पकड़ ये कही मारो धर्म है कि युद्ध करना तो मारो धर्म है हूँ करी पर छोकरे ने कही पहल तू बांट बा ना हूँ को बाऊ पहल आप बाऊ गेंडे ने मारे गया गा पहल गाते हो तो ये हार आप बांट बाऊ राजा अर्जुन का नहीं तू बा तो राजा अर्जन के तरफ होगा ना थारी कुल धर्म री बात हूँ बौन राजा अर्जन तीन ही बौन पाया और तीन ही बौन खाली गया क्या माता कौन तो और बचन तो तीन ही बौन खाली गया और वे लड़के एक ही बौन पाए ने एक पूरो चोटी रो आयो थोड़े बजारो धनी है तो हुई सीधो ये गोडी एक पीलो चादरो तो, तो राजा अर्जन ने माथे को ढाले राजा अर्जुन ने बौन ले और रोणी पदमा ने गोड़ी जावे भला जावे और हमें वो जैन की के इनकी अपनी सिंबाए Hombre. Vamos, vamos, कुंता ने कहे मैंने मोतिया थाल भरी से और थाल भरे मैंने बदा ना एड़ से बड़ो काम की वा। पद्मा ने कहे एड़ो पद्मा पूछे एड़ो थी की एड़ो मोटो काम की हुआ जो कोई जिद जीते आयो है या कोई स्वर्ग लोग जाए आयो है या कोई एड़ो कोई बड़ो भारी काम करे नहीं मुँह ना बताया करे हूँ तो यो कहती जी हमेशा बात यो करा राज तेज हुआ जो जावे युद्ध रे महीना मोटो झगड़ो जीते या कोई मोटो भयंकर एड़ो काम करे झुको ना मोती हम थाल गाते ने बदा वे तू तो गेंडा सारे ने घरे आयो ने के मनो बदा बाजी ये कहयो के हूं एक एड़े सूर्य ने मारे आयो हूं वो बीजे रे जो नजर पड़े तो मन मरे एड़ो सूर्य तो ने खत्म करे आयो एड़ो सूर्य के तो खत्म करे आयो सर्वर री पाड़ क्या कहना हारो कहना हारो के वो सूर्य तो और मारे गेंडे रे गा गाते तो और ये हारो करे मैं वो मारे खत्म कियो हो गया निशान भी जा के अपने थारे ढोलिये रे गोडी जो ये तस्वीर करोड़ी है नी ये तस्वीर होने यार वादा है थोड़ी थोड़ी ओए थारे घर रो कालो है थारे ये तो थारो बाप है पांडु अर्जुन मारियो बो के खत्म कियो सेकाई कर मारे घर री काली हुई ने एड़ो मारो मोटो भाग है तो जो आज है मन मन तो लंबा पेराई थी हमारी मई थू भलो दिल में दीकरो देखो ए काम थे कियो भलो काम कियो भाईयो ठीक कियो बड़े के मोतिया बताई हम बड़े थू कह के मने मोतिया बताई तना तो कुछ होश नहीं चाहिए ते एडो खोटो काम कियो तने तो मोतिया के तने तो घर में ही नहीं पड़न दियो पण तू में मारे ओदर में जुलम है वो हमें तने कहो कहीं को भाई हमें यो कर थारे पिताजी रे गोडी अमीर को को बीजो के थे को हन छे का हालो राजा अर्जुन की लाश लावा और मेलात्रे में हूं रखाली करो हां तू जापरो थारे नन्ने रे गोडी अमीर को को है बीजो के थे को दुनिया में अमीर को को करे करे इतना देहर जे तू लावे और राजा अर्जुन माथे नखो और जे हरजीत तो वह तो और नहीं तो बस अहंग बात धरे रहे तो हमें ठीक है कि हम संभाले 到。 ಆಯುರಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಬಾಳ ಬಾ and ઉદડે મારો કરી હે તારા ગુણમાં પની છોડો હે ગુણમાં પની છોડો રે હે આઈ રે મન રે મા 来呀！ माता है अबे मुनि ना ए अबे मुनि तू हमें यहाँ कर बीजी कोई उपाप करनो कोई आश्रो है कोई हमें बेटा यहाँ कर तू थारे नॉन ने नागराज गोडी जा जो मारे हैं तो थारो पिताजी नाराज है क्योंकि अर्जुन जी भी यहाँ किए तो ये हारू ही नाराज है अबे तू यहाँ कर देखो तो थारे नॉन नौने गोडी जा जो नौने ने की करी करे अमीर कुंपो लान थारे पिताजी ने हरजीत करा और जो ए जो थारे नॉन नौने अमीर कुंपो नहीं दियो तो एक थारो पिताजी नकी हरजीत है न कोई पाछा जावे और अपनी जितनी भी कमाई की उड़ी है सब एड़े हो जा थारी मर्जी है भाई जो को इतना थारी भली लागे जाता है बहुत अन्याय हुई है वो थारे होते थके थारे पिताजी ने थे थारे हाथ मारे मन लंबी पेराई है तो ये रो में बहुत बड़ो भारी थो तो अपराधी है अरे ये मन रहे मैंने तो क्रोध आयो तो क्रोध आयो ये मनो विचार के हे भगवान मारे जड़ो अपराधी कोई दुनिया में है मारे पिताजी ने मारे हाथ मारे और हमें हूँ जो कोई कॉम रही कौन मैं तो मन में बहुत मोटी बात थी पर वो बात तो हैं खत्म हो गई अबे आप जो आप रे नौने राजा गोड़ी जावे है पाकी फिरे परकमा दे हाथ जोड़े डंडो वर्त करे पगे पड़ी हो तो भरी नींद रे में नागराज होता है हाथ गोई पाकी फिरे परकमा दे डंडो वर्त करे पगे पड़ी अरे हूँ नींद खिली है पूछे बेटा की बात है क्या आयो थी ये कही अंदा था आप एक काम पड़ी कहो काम पड़े भाई काम अंदा था एडो पड़ी है मारे पुताजी ने मैं मारे हाथ खत्म किया बा और हमें आप रे गोड़ी अमीरों कोंपो है जे आप दे रहा हो तो हमारे पिताजी ने हरजीत करा और हमारी माता जी मैंने मेलियो है आप मेरो नहीं करे अमीर को देराओ जी भाई जी और हाँ। नागराज तो पहले नाराज डक डक डक डक आहन मिलिया ये कही मैं तो कहे तो नहीं भाई मरतल लोग रे मन खाऊ शादी करे और कोई पन पे और कहना भलो हो तो वह तो पसे मन आ आप आप रिश्तेदारी क्या जो है हरी माँ आप खुद ऊंधो काम कियो आपने मनमानी की आपने जचे जाए कियो तो कियो तो आप भोग है मोहरे गोड़ी के मेरा कुंभा पड़िया अरे अरे तो ये बड़ी भारी मेहनत की पग जाले आया कि आपने नौनी गोड़ी की हो ए माता की करे करो मना मेरे को पुदे रहो तो डोकरे की की वो जहर तो एक एड़ो जहर तो माथे नौकते बार जो खत्म हो जाए बिल्कुल भस्म ओड़ो जहर दियो वो जहर जनरावल देनी जहर जनरावल देनी और खुश उड़ो मानो कहे गई एल अरे जल्दी करिए गई यहाँ कौन है तो नौनेरी मनो था बाप मारो है थारे हम गुनो कौन मारे हम गुनो मन है ही था तू यहाँ कर गेंडे खाल पड़ी है ने ई खादरे मान नाक देखो ठा पड़े ई खादरे मान नाक जे गेंडो हरजी तो जा थार पिताजी हो जाए अरे गेंडो हरजी नहीं हुआ थार पिताजी जी कोनी एड़ी हो है जो पास ये निशान ला दे कोनी ये जहर जितना दिन है नहीं तो माथे नाक से बाहर जो है जहर ले ती बाहर भस्म हो जाए वो जे करे गेंडे री खादरे माथे जाए सोटो ना क्यों है तो एकदम जाल हुए भस्म आर ये मंदरे मैंने क्रोधी को गयो कौन अभिमुनि तो क्रोधी गयो ये कहे को मैंने दुनिया में जीत ही नहीं कसम ले ली जाए माता रे पगे पड़ियो अर्जुन जी हुता था लाश पड़ी थी रे पगे सरना मंत्र ले क्या थोड़ी कसम है मना नवकड़ी नाग है इं ना जिंदा छोड़ो ही कोई हैंगो ना खत्म कर दे पूरा नहीं पूरा और मना राजा अर्जुन ने जो कोई विद्या याद है तो मना दुनिया में कोई मारना वो नहीं और करे मारो गुरु महाराज यहाँ सब को खत्म कर दे हर हमें आप ठीक है 哎呀！ छाती ले राजा अर्जुन ने पगे पड़े माता रे पगे पड़े आप रे कुल धर्म ने याद करे और हाथ जोड़े और माँ सती ने याद करे और आप कसम खाती है नौकरी ना आगे चुका मैं एक नहीं छोड़ा पूरे मन मारो पिताजी तो हरजी तो है तो मत ही वह पर ये ना करूं वंश काट दे जो दुनिया में नहीं कह के नाग हता का को होता है नवकुड़ी नाग है नवकुड़ी नाग ना को छोड़ा नहीं तो पहिया ला मैंने डलियो है देखो पांच हाथ आठ कड़ी खत्म कर पूरा ही अर नागराज ने ठा पड़े अर नागरी ने ठा पड़े देखो आप हाथों में आठे गाते अर जाए अब मैंने तो पगी पड़ी रही बेटी रा बाप ए थे की की बड़ो भारी अन्य जिकर आठ लोग खाली कर देना थे आठ लोग थे खाली किया बेटा बाप एड़ एड़ की थू मनख ये कहोगे मैं एक कुड़ी रही है लारे नौ कुड़ी है आठ कुड़ी मैं खत्म की यहाँ भी एक कुड़ी रही है मातारी कसम भाई को हाँ क्यों एकली को छोड़न जे मारो पिताजी जिंदो तू मांगे की है तू जो कोई मन खू मांगे हूं तना वचन दे हाँ तू जो कोई मन हूं मांगे वो चीज तना मल है अन बेटी रा बाप है क्या अन्याय करे तो बड़ो भारी अन्याय ये तो कहियो के वचन दे ए ए थारा मारा वचन भलाई लिया अमीरो कूपो मांगा मारे पिताजी ने हरजीत करनो बीजो मारे कहीं को चाहिए धन चाहिए नहीं कोई दौलत चाहिए नहीं मने कोई माया चाहिए नहीं कोई मारे कहीं मतलब મને સિર્ફ એક અમીરો કુંપો ચાઈ જાય તો પહેલ થને અમીરો કુંપો દીનો જતો ને કે દીનો અમીરો કુંપો ઓ તો ઝેર દીનો તો ગેંડારી ખાલ નોખતી બહાર ભસમ હોઈ અને જે મારે પિતાજીને માથે હું નોખતો તો હડી જંદી કોને છોડતી હડી બી ભસમ હોતી એડો અન્યાય થવાને કોઈ તાથે ઝેરીલા તાથે ધોખેબાજી ક્યાં ધોખો કરો તો नहीं बस ना दो गए काम हमारे गुड़ को तो तेने आओ करो ना ये वचन दिया दोनों के परवाज को नागराज री रोणी और अबे मुनि नागराज गोड़ी जावे है नागरान जगोयो जाए नागराज ना कहेगा आठ कड़ी पूरा खत्म हुआ वा हाँ आठ कड़ी खत्म हुआ अब लारी एक कड़ी रही है आप राज के मत करो आप के मत राज करो मार करी ना मेरे कुंपो दो बो अन जे अमीर कुंपो नहीं दियो तो आप रिखेर नहीं तो आप रिखेर नहीं हेंगो ना मारे आयो थारी खैर नहीं